सीता मांगे गौरी मैया से सुहाग अपना सीता मांगे गौरी मैया से सुहाग अपना पहला तो मांगे अयोध्या का राज पहला तो मांगे अयोध्या का राज और मांगे सरजू दर्शन सीता और मांगे सरजू दर्शन सीता मांगे गौरी मैया से सुहाग अपना सीता मांगे गौरी मैया से सुहाग अपना दूसरा तो मांगे ससुर राजा दशरथ दूसरा जो मांगे सतुर ससुर राजा दशरथ कौशल्या सी सास अपना कौशल्या सी सास अपना सीता मांगे गौरी मैया से सुहाग अपना तीसरा तो मांगे पुरुष राजा रामचंद्र रामचंद्र लक्ष्मण मांगे देवर अपना सीता मांगे गौरी मैया से सुहाग अपना चौथा तो मांगे पियरी गहावर चौथा तो मांगे कहावर सिंदूर भरल सुहाग अपना सिंदूर भरल सुहाग अपना सीता मांगे गौरी मैया से सुहाग अपना पांचवा तो मांगे एड़िया महावर पांचवा तो मांगे एड़िया महावर बिचुवे भरल पाँव अपना सीता बिछुए भरल पाँव अपना सीता मांगे गौरी मैया से सुहाग अपना सीता